इस लोक में मनुष्य शरीर में आत्मदर्शन ज्ञान स्पष्ट होता है इसलिए प्रयत्न करना चाहिए तो कैसे उसका ज्ञान होगा ज्ञान का प्रयोजन क्या है आगे मंत्र में कहते हैं इंद्रियाणाम पृथक भाव उदय आस्तमयोच यद पृथक उत्पद्यम मत्वा धीरो न शोचती इंद्रियाणाम पृथक भाव पृथकत्व अलग अलग उत्पन्न होता है पृथक उत्पद्यमान नाम इंद्रियाणाम अलग अलग उत्पन्न होते अलग अलग अलग विलक्षण होते हैं उदयास्तमय चयत और इंद्रियों के उदयास्तमय उत्पत्ति प्रलय जागृत स्वप्न सुश्रुति में जागृत अवस्था में इंद्रिय है स्वप्न अवस्था में अंतकण विलीन होते सुश्रुति अवस्था में अंतकण विलीन हो जाता है ये सब देख करके जो होता है इन्हीं का जिसमें सब अधिष्ठान रहता है जिसकी अपेक्षा ये नित्य आत्मा है बाकी सब की उत्पत्ति प्रलय है वो जो अधिष्ठान आत्मा उसको मत्वा धीरो न सोचती धीर विवेकी उसको जान करके शोक को पार कर लेता है इंद्रियाणाम श्रोत्र आदि नाम ज्ञान इंद्रिय पांच है कर्म ये भी पांच है स्वस्व विषय ग्रहण प्रयोजन न स्व कारणेभ्य आकाशादिभ्य पृथक उत्पद्यमाना नाम इंद्रियाणाम पृथक उत्पद्यमाना नाम के साथ संबंध इंद्रिय की उत्पत्ति होती स्वस्व विषय ग्रहण प्रयोजन न प्रयोजन ये है विषय ग्रहण सबका विषय अलग-अलग शब्द स्पर्श रूप रस आदि स्वस्व विषय ग्रहण प्रयोजन से उत्पन्न है सब कारणेभ्य आकाशादिभ्य अलग अलग ज्ञान इंद्र का अलग अलग कारण है अपंजीकृत महाभूत पृथक पृथक महाभूत से ज्ञान इंद्र की उत्पत्ति होती है जैसे श्रवण इंद्र की उत्पत्ति अपंजीकृत महा आकाश से आगे इंद्र की उत्पत्ति अपंजीकृत वायु से और चक्षुर इंद्रिय तेज से रसन इंद्रिय जल से इसी प्रकार अलग अलग उत्पन्न है अत्यंत विशुद्धा केवला चिन्मात्र आत्मस्वरूपाद पृथक भाव ये सब भूत से उत्पन्न हुए और शुद्ध चिन्मात्र अधिष्ठान से भिन्न भिन्न अलग ऐसे दिखते हैं अब भूत की उत्पत्ति हुई माया से भूत से इंद्रिय की उत्पत्ति हुई सबका अधिष्ठान है अत्यंत विशुद्ध है शुद्ध चिन्ह चिन्ह मात्र केवल चिन्ह मात्र आत्मस्वरूप है उससे पृथक भावम पृथकत्व भिन्नत्व स्वभाव विलक्षणात्मकता स्वभाव से विलक्षण दीर्घ रूप चेतन अधिष्ठान आत्मा सत्य है बाकी सब अध्यस्त है दीर्घ रूप चेतन में नाम रूप है ही नहीं बाकी सब इंद्रिय सब नाम रूप त्रिगुणात्मक कार्य है स्वभाव से विलक्षण सब इंद्रिय तथा तेषा में भी इंद्रियाणाम उदयस्तमयो च उत्पत्ति प्रलयो इंद्रिय की उत्पत्ति और प्रलय जागृत स्वाप अवस्था अपेक्षा जागृत स्वप्न अवस्था के अपेक्षा करके उत्पत्ति प्रलय इंद्रिय तो जीव अनादि है इसलिए सूक्ष्म शरीर भी अनादि है सुश्रुत अवस्था में केवल अज्ञान रहता है अंतकण आदि सूक्ष्म शरीर उसमें लीन हो जाते हैं फिर इस सुसुप्ति अवस्था के लिए जब जाता है सब वासना अंतकण में रहती है फिर जागृत स्वप्न अवस्था को आता है तो वासना को ले करके आता है तब तो जागने के बाद अथवा स्वप्न अवस्था में फिर अपने कर्म पर वो करता है जो पहले किया हुआ कर्म लेकर के आया वो कर्म प्रारब्ध समाप्ति मरने तक साथ साथ रहता है अवस्था भिन्न भिन्न अवस्था को जाने पर भी कर्म रहता है भोग करता है तो इंद्रियों की उत्पत्ति पर जागृत अवस्था में इंद्रिय के द्वारा वस्तु ग्रहण होता है स्वप्न अवस्था में से लगता है इंद्रिय है वो वासना में प्रातिभाषिक है व्यवहार काल में अभी जो इंद्रिय है उनका व्यापार नहीं होता स्वप्न अवस्था में स्वप्न अवस्था में अलग वासना में इंद्रिय विषय ग्रहण सब तो तो इंद्रिय जो प्रातिभाषिक इंद्र वो भी नहीं रहता है सुश्रुत अवस्था में तो ये उत्पत्ति प्रलय जागृत सपन अवस्था की अपेक्षा करके न आत्मन आत्मा की उत्पत्ति प्रलय ने आत्मा तो निरंतर है इति मत्वा ज्ञात्वा विवेकतो धीरो धीमा न सोचती इसे समझ करके विलक्षण जान करके उत्पत्ति प्रलय वाले जो कभी रहते कभी नहीं रहते सब मिथ्या है तीनों काल में रहने वाला आत्मा ही सत्य है आत्मनो नित्य एक स्वभाव से अव्यभिचारात नित्य एक स्वभाव है आत्मा उसका व्यभिचार नहीं होता है कभी परिवर्तन नहीं होता स्वभाव स्वभाव से चित्त नहीं होता है एक रूप रहता है जो हमेशा एक समान एक रूप रहता है वही नित्य है जो उससे विलक्षण कुछ अभी दिखता है वो सब अनित्य है मरुभूमि में सूर्य किरण से का जल आदि का भ्रम होता है सूर्य किरण नहीं आगे दिखता नहीं चित रूप सद्रूप आत्मा है अव्यभिचार है उसमें शोक का कोई कारण ही नहीं है उसे अतिरिक्त तो कुछ यही नहीं पदार्थ था तो। असंग है बाकी जितने पदार्थ है सब माई है माया से जैसे स्वप्न प्रपंच दिखता है जगते समय कुछ सपने के पदार्थ नहीं आते हैं अनन्वागतस्तेन भवती सपने कोई पुण्य पाप करता है तो उसके साथ संबद्ध नहीं जब जगता है अपने के पापी पुण्यवान ऐसा नहीं मानता है इसी प्रकार आत्मा असंग होने से अन्य इंद्रिय विषय भूत भौतिक इनके जो जो विकार कार्य जो कुछ होता है उसके साथ आत्मा का संबंध है ही नहीं असंग है तो शोक का कोई कारण नहीं है इसलिए ज्ञान हो जाने पर न सोचती शोक कारण हो तो शोक करेगा कारण ही नहीं तो कार्य नहीं होगा तथा श्रुत्यंतरम तरति शोकम आत्मविदिति सामवेद में छांदोग्य उपनिषद आया तरति शोकम आत्मेति ये शोक संसार शोक पार कर लेता है ज्ञानी यस्माद आत्मन इंद्रियाणाम पृथग्भाव उक्तो नाशो बहिरधिगंतव्यो यस्मात् प्रत्येक आत्मा सा सर्वस्य तत्कथम इत्युच्यते आत्मा को जान करके धीरो न सोचती जिस आत्मा से इंद्रियों की विलक्षणता भिन्नता की प्रतीति होती है आत्मा न पृथक भाव पृथकत्वम ये भिन्नता है इंद्रियाणाम पृथक भाव भिन्न भिन्नत्व कहा गया है आत्मा से विलक्षण है सत्यानृत कृत्य आत्मा है सत्य बाकी सब अनृत मिथ्या है दोनों का तादात्म अध्यास होता है तो ये मिथ्या इंद्रिय है मिथ्या का अर्थ अनिर्वचनीय सत नहीं असत नहीं उभय नहीं इसको मिथ्या कहते हैं सस विचारण को मिथ्या नहीं कहते वो तो असत है व्यावहारिक प्रपंच सब मिथ्या है सत नहीं असत नहीं उभय भी नहीं तो है भी उसको कहते मिथ्या है ये जो आत्मा से भिन्न सब पदार्थ मिथ्या पृथक भाव कह गए हैं वो आत्मा का ज्ञान कहाँ होगा नाशो हो आत्मा का ज्ञान बाहर दौड़ना घूमना नहीं यद्यपि सर्वव्यापक है बाहर भी है क्योंकि जब ज्ञान होगा साक्षात्कार होगा अपने स्वयं अहम अस्मि यस्मात् प्रत्येगात्मा स सर्वस्य क्योंकि वो सबका प्रत्येगात्मा है अनेक एक बिंब का अनेक प्रतिबिंब अनेक दर्पण में बहुत प्रतिबिंब है प्रतिबिंब वास्तव नहीं बिंब ही वास्तव है दर्पण में दिखता है बिंब प्रतिबिंब उसका वास्तव स्वरूप बिंब ही है मुख और दर्पण में एक नहीं जितने दर्पण सौ में प्रतिबिंब दिखेगा प्रतिबिंब का वास्तव स्वरूप क्या है बिंब हजार प्रतिबिंब है तो बिंब कितने हो जाएंगे एक ही बिंब है तो किस प्रतिबिंब का वास्तव स्वरूप है हजार प्रतिबिंब है किसका वास्तव स्वरूप बिंब है हैं सबका हजारों का यहाँ इसी प्रकार सर्वस्य प्रत्यगात्मा स चिदाभास सबके अंतःकरण में दिखता है आकाश के समान आकाश व्यापक है सबके शरीर में अंतकरण है उसमें प्रतिबिंब दिखता है चिदाभास जितने चिदाभास अंतकरण में दिखते हैं सबका वास्तव स्वरूप बिंब रूप चेतना एक है आत्मा इसलिए प्रत्येक आत्मा से सर्वश्रेष्ठ सबका प्रत्येक आत्मा वह अहम आत्मा गुड़ा के सब भगवान कहते मैं ही आत्मा सर्वभूता से हम स्थित तत्कथम कैसे आगे कहते हैं इंद्रियेभ्य परं मनो मनस सत्वमुत्तमं सत्वादते महानात्मा महतो व्यक्तमुत्तमं इंद्रियभ्य पर मन इंद्रिय से पर है मन इंद्रिय व्यापार तो होता है मन पूर्वक मन यदि इंद्रिय के साथ संबद्ध नहीं होगा तो इंद्रिय खोला है कान तो खोला है सुनाई नहीं पड़ता है मन कहीं दूसरे स्थान में मन का संयोग होने पर ही इंद्र के साथ तब ज्ञान होगा सामने दिखता नहीं आंख खोला है कुछ सोचता रहता है तो मन जिस इंद्र के साथ संबद्ध होता है तद इंद्रजन्य ज्ञान होता है एक साथ ज्ञान चक्षुर इंद्रजन्य घ्राण इंद्र रसन इंद्रजन्य ज्ञान नहीं होता है लगता है होता है करके क्योंकि इसको देखते रहते हैं या लगातार गंगा जी को बैठकर दर्शन करते उसमें कोई कुछ बोलेगा तो सुनना ही पड़ता है ना नहीं पड़ता पड़ता उसे पानी में शब्द होता है सुनते हैं और कोई हम्म, मच्छर और चिंटी आदि काटेंगे तो पता चलेगा सब इंद्र से ज्ञान होता सुनना ही पड़ता है तक इंद्र से ठंडी भी लगती गर्मी लगती सब इंद्रजन्य ज्ञान होता है लगता है एक साथ किंतु एक साथ नहीं होता है बहुत जल्दी होने से लगता है एक साथ हो गया जैसे एक कमल मतलब पत्र भेदन ये पत्र पांकड़े को एक साथ एक एक कर रख देंगे बहुत ऐसे ऐसे करेंगे बहुत रख करके सुई से वेदन करो बड़े मजबूत सुई से वेदन करते तो एक साथ वेदन हो जाता है किंतु एक साथ नहीं क्रम से हुआ प्रथम द्वितीय तृतीय क्रम से हुआ प्रथम वेदन नहीं करेगा तो तृतीय का वेदन होगा तृतीय का वेदन नहीं होगा तो द्वितीय का होगा हम्म चतुर्थ का नहीं होगा तो पंचम का होगा हाँ, सोच कर बोलो हाँ। पूर्व के भेदन होने पर उत्तर का होगा क्रम से होता है लगता है इष्ट तो हो गया तो ये युगोपस ज्ञानानुपपत्ति मनुष्य लिंगम मन के पदार्थ है ये लिंग ज्ञापक है क्योंकि के साथ ज्ञान नहीं होता है जिस इंद्र के साथ मन का संबंध होगा तजन्य ज्ञान होता है किंतु मन इतने शीघ्रगामी है इतने जल्दी सब इंद्र के साथ संबंध होता है जहाँ इंद्र कुछ विषय ग्रहण करने का हुआ मन उसके तैयार है जहाँ जब इंद्र के ज्ञान होगा मन दौड़ करके वहाँ संबद्ध हो जाता है अरे मन नहीं संबंध होगा तो इंद्र व्यापार नहीं कर सकते हैं अरे मन भी कभी बाहर जाएगा तो इंद्र के द्वारा जाएगा और कभी कभी स्मरण संस्कार तो स्मरण करता है तो इसलिए मन हो गया इंद्र से पर मन से इंद्र को रोक सकते हैं और मनस सत्वम उत्तमम बुद्धि मन से उत्तम हम बुद्धि को मनीषा कहते मनस ईशा मनीषा बुद्धि है मन को नियमन करने वाली बुद्धि पूर्वक तो बुद्धि से मन को सम समन करना है सत्वादधि महान आत्मा असत्व बुद्धि से महान आत्मा है महत्त्व तो गर्भ है महतो अव्यक्तम उत्तमम और हिरण्यगर्भ से अव्यक्त है प्रकृति है अव्याकृत प्रकृति उत्तमम इंद्रियभ्य परम मन इत्यादि भाष्य में टीका में इंद्रियभ्य पराह्यर्था इति पूर्वम उक्तम पहले कहा था इंद्रियभ्य पराह्यर्था अर्थव्यस्य परमन यह तो अर्थानाम अग्रहणात् सर्व प्रत्यगात्मत्व न संभवती आशंका यहाँ तो अर्थों का ग्रहण नहीं किया अर्थ को छोड़ दिया सब का स्वरूप आत्मा ही है सर्वेशा केवल जीव का नहीं जीव का स्वरूप जैसे आत्मा है जो जड़ पदार्थ है उनका ही वास्तव स्वरूप आत्मा ही है जड़ पदार्थ दिखता है उसकी जड़ की सत्ता अधिष्ठान की सत्ता से ही अध्यत्य की सत्ता जड़ पदार्थ जो दिखते हैं वो भी आत्म सत्ता से सत्ता वाले आत्म सत्ता उसमें दिखती है तो अधिष्ठान में अध्यस्त जितने पदार्थ है सारे अध्यस्त पदार्थ का स्वरूप अधिष्ठान ही है जड़ चेतन सब का तो अर्थाना अग्रहणात् रूप रस घटपट आदि का यदि विषय का ग्रहण नहीं करेंगे का प्रत्येगात्मा कैसे हुआ सर्व प्रत्येगात्मत्वम आत्मा का प्रत्यय स्वरूप ये कैसे सिद्ध होगा तो न संभवती अर्थ अलग रह जाएंगे इति आशंका उत्तर देते हैं भाष्य में अर्थानाम यह इंद्रिय समान जातीयवाद इंद्रिय ग्रहणेनैव ग्रहणम इंद्र पांच ज्ञान इंद्र में भौतिक कौन है सब इंद्र भौतिक है कर्म इंद्रिय भौतिक है क्या हाँ सब इंद्र भौतिक है कौन पदार्थ भौतिक नहीं है हाँ भूत का कारण अज्ञान नहीं है आत्मा तो नहीं सारे पदार्थ भौतिक है इंद्रिय भौतिक है भूत से उत्पन्न होते हैं तो इंद्रिय भौतिक है विषय भी भूत का भू कार्य है भूत भूत रूप है इंद्र के समान जाते हैं विषय चक्षु इंद्र किस तरह से बनते हैं तेज से बाहर तेज है दोनों में सजातीय तो है तेजत्व तो है तो इसलिए अर्थ है सजातीय अर्थानाम इंद्रिय सजातीयत्वाद अर्थ विषय इंद्रिय के सजातीय है अर्थ तेज रूप पृथ्वी जल तेज वायु आदि भूत ही है अलग अलग कार्य बन करके है तो इंद्रिय के समान जातीय सजातीय होने से इंद्रिय ग्रहण नैव ग्रहणम इंद्रिय का नाम लेने से सजातियों का भी ग्रहण हो गया सारे भूत भौतिक सब आ जाएंगे इसलिए ये अर्थों को अलग से नहीं कहा इंद्रिय का यदि वास्तव स्वरूप आत्मा है तो इंद्रिय स्वरूप जो भूत भौतिक अर्थ विषय है उनका भी वास्तव स्वरूप आत्मा है अलग से नहीं कहा है यहाँ इंद्र ग्रहण वो ग्रहण इंद्र के ग्रहण करने से उनका ग्रहण सजातियों का भी ग्रहण हो जाता है बहुत पदार्थ है कितने नाम लेंगे कुछ नाम ले लिया इंद्रिय कहने से उनके सजातियों का भी ग्रहण हो गया पूर्व अन्यत आगे पर पूर्व मंत्र में आया था पर मन, मन पर कहेंगे सूक्ष्म व्यापक उसका नियामक ऐसे ऐसे करते करते गर्भ से परे अव्यक्तम अज्ञान है माया तत्व सत्व शब्दाद बुद्धिर्य उच्यते मनस सत्वमुत्तमम सत्व शब्द से बुद्धि लेना बुद्धि से परे महतत्व गर्भ हम्म, अष्टम मंत्र अव्यक्तात् परः पुरुषो व्यापको लिंग एवच यं ज्ञात्वा मृत्यते जंतुरमृतत्व च गच्छति अव्यक्ता तो पर पुरुष पर ब्रह्म पुरुष है पूर्ण व्यापक है अलिंग एव च अविद्यमान लिंगम यस्य कोई लिंग है नहीं ज्ञापक नहीं है लिंग जैसे धूम लिंग होता है वन्नी के लिए वन्नी निश्चय होता है इसका कोई लिंग है ही नहीं कार्य कारण भाव होता है तो कार्य कारण का लिंग होता है शुद्ध ब्रह्म का कोई कार्य भी नहीं है किसके साथ इसका संबंध नहीं है व्याप्ति नहीं उनसे किसको दे करके आत्मा का निश्चय सा नहीं है अलिंग है वच यं ज्ञातम उच्चते जंतुर जिसको जान करके जंतु जन्म मरण वाला जीव मुक्त हो जाता है अमृतत्वम च गच्छति अमृतत्व अमरण धर्म को प्राप्त करता अमर हो जाता है अव्यक्ता तो पर पुरुषो भाष्य में अव्यक्त से पर है पुरुष जो व्यापक हो व्यापक आकाश आदि भी है व्यापक स्यापि आकाश आदि सर्व से था जिसे आकाश को व्यापक कहते उसका भी कारण है आत्मा इसलिए सर्व सबसे व्यापक है आकाश भी व्यापक पारमार्थिक व्यापक नहीं है आकाश अध्यस्त है वो आत्मा में अध्यस्त है उससे व्यापक है आकाश आदि सर्व से कारण है सब का कारण होने से सबसे व्यापक है आत्मा ब्रह्म अलिंगो लिंग शब्द का अर्थ करते पहले लिंग्यते गम्यते येन तल लिंगम तत् लिंग में तोल्य हो गया तल लिंगम दो लकार चाहिए तल लिंगम बुद्धि आदि बुद्धि आदि है लिंग बुद्धि आदि के द्वारा कारण का ज्ञान होता है तद अविद्यमानमस्य इति सोयम लिंग अविद्यमानम लिंगम यस्य अविद्यमानम लिंगम अस्य समास कैसे होगा नयोस्त्य अविद्यमान पुत्र से अपुत्र बनता है अविद्यमानम लिंगम यस्य अलिंगम नयोस्त्यर्थाना वाच्य वाच उत्तर पदलोप नय से अस्त्यर्थानाम अविद्यमान विद्यमान अस्त्यर्थ है उत्तर पद विद्यमान का लोप हो जाता है अपुत्र बन जाता है अलिंगम लिंग रहितम तद विद्यमान वसेति स्वयं अलिंग एव अलिंग कौन से कोई लिंग आत्मा में है ही नहीं आत्मा का कोई लिंग के साथ संबंध नहीं है उसका अभिप्राय सर्व संसार धर्म वर्जित है तथा सारे संसार धर्म से रहित है यम ज्ञात्वा मुच्यते जिसको जान करके मुक्त हो जाता है अमृतत्व प्राप्त करता है ज्ञान कैसे होगा आचार्यतः शास्त्रतश्च दोनों चाहिए आचार्य मुख से श्रवण करे शास्त्र श्रवण करे शास्त्र केवल अपने आप को पढ़ने से नहीं होगा आचार्य मुख से श्रवण करने का नियम और आचार्य उपदेश भी शास्त्र के माध्यम से तो मुक्त होता है ज्ञान होता है श्रवण करेगा पहले शास्त्र श्रवण मनन निधिध्यासन उनसे साक्षात्कार दृढ़ अपरुष ज्ञान होता है तो मुक्त हो जाता है अविद्यादि हृदय ग्रंथि भी जीवन एवं पतिते भी शरीर अमृतत्वम जगच्छति अविद्यादि हृदय ग्रंथि से रहित हो जाता है हृदय ग्रंथि हृदय बुद्धि बुद्धि के साथ ग्रंथि है गांठ ग्रंथि तादात्म्य अध्यास बुद्धि जड़ है अलग चेतन आत्मा है असंग दोनों के साथ संबंध नहीं हो सकता आत्मा असंग है तो भी संग भ्रम होता है चंद्र आकाश में है जल में प्रतिबिंब दिखता है चंद्र का संबंध है ही नहीं जल में तो भी कहते जल में चंद्र दिखाते हैं देखो जल में चंद्र जल में कभी आकाश का प्रतिबिंब दिखता है तो आकाश जैसे लगता है पानी नहीं दिखता है इसी प्रकार अंतकरण के साथ बुद्धि में चेतन का प्रतिबिंब होने से वही बुद्धि ही चेतन जैसे लगती है इसलिए बुद्धि को आत्मा मान लेते बहुत वो कहते हैं जो हम निश्चय करते हुई तो हम है और दूसरा कौन है जो निश्चय करते हम निश्चय करते बुद्धि हुई बुद्धि आत्मा और आत्मा किसने देखा कहाँ और बौद्ध में धर्म में योगाचार मत बुद्धि कहते प्रतिक्षण उत्पत्ति नाश वाले बुद्धि उससे अलग कोई आत्मा है ही नहीं क्योंकि बुद्धि में चेतन का प्रतिबिंब दिखता है चिदावास विशिष्ट बुद्धि आत्मा जैसे लगती है जो तार्किक मत के अनुसार आत्मा में बुद्धि सुख दुख शादी गुण आत्मा में सिद्ध करते हैं वही इसी में सिद्ध होता है अंतकण में सब धर्म है वो आत्मा में दिखता है तो आत्मा में मानते हैं यहाँ अलिंग कहन से बुद्धि आदि के साथ उसका कोई संबंध नहीं है शुद्ध चिद रूप है तो हृदय ग्रंथि से नष्ट ग्रंथि से मुक्त हो जाता है अज्ञान के कारण तादात्म अध्यास होता है भ्रम होता है ज्ञान होते अज्ञान नष्ट होता है तो भ्रम नष्ट हो जाता है रज्जु के अज्ञान से सर्प दिखता है रज्जु ज्ञान होते ही अज्ञान नष्ट हुआ अज्ञान का कार्य सर्प सर्प भ्रम नष्ट होता है इसी प्रकार यहाँ हृदय ग्रंथि जो अभ्यास है बुद्धि के साथ चेतन का एकत्व भ्रम वो नष्ट हो जाता है जीते जी मुक्त हो जाता है पतिते भी शरीर अमृतत्वम का सत्य शरीर नष्ट हो जाएगा प्रारब्ध के बाद तो अमृतत्व को मुख्य मोक्ष को प्राप्त करता है मुक्त हो जाता है अमर धर्म को प्राप्त करता है सो अलिंग परमात्मा पर अव्यक्तात् पुरुषः पर है अव्यक्त पुरुष पर है इति पूर्वेण संबंध यहाँ जो अलिंगम का उसके ऊपर टीका में दिया बुद्धि सुख दुखादि शास्त्रयो गुणत्वात् रूपवत इति वैशेषिका अनुमिमते अनुमान करते हैं जो गुण होता है उसका कोई आश्रय होता है रूप रस आदि जैसे गुण किसी आश्रय में रहता है गंध जब सुगंध दुर्गंध आता है गंधव एक गुण है तो उसका कोई आश्रय है पृथ्वी का अंश सूक्ष्म अंश उसमें गंध रह करके आता है केवल गंध नहीं आता है घ्राण इंद्रिय से गंध ग्रहण होता है तो पृथ्वी के सूक्ष्म अंश रहता है साश्रय केवल शब्द नहीं आता है उसका आश्रय पृथ्वी के भाग उस आ जाता है तो उसमें सुगंध भी ग्रहण हो जाता है तो यह जितने इंद्रिय गुण है सब किसी आश्रय में आश्रित होते हैं बुद्धि सुख दुख आदि भी गुण होने के कारण उनका कोई आश्रय होगा आश्रय न सह वर्तति इति साश्रय कह बुद्धि सुख दो आदि कस्माद गुणत्वात् हेतु गुणत्वम दृष्टान्त रूपवत रूप दृष्टान्त में गुणत्व हेतु रहेगा और रूप कहीं आश्रित होता है रूप में रहेगा क्या साध्य रहेगा शास्त्रीयत्व बुद्धि सुख दुख आदि में गुणत्व होने से शास्त्रीयत्व रहेगा शास्त्रीय का था आश्रय न सवर्तमान उसका कोई आश्रय है बुद्धि सुख दुख आदि का कोई आश्रय है जो आश्रय उसको आत्मा कहते हैं इति वैशेषिक अनुमिमते अनुमान करते हैं तद असत कहते ये शास्त्रीय तो सिद्ध करो तेरे कोई बात नहीं किंतु आत्मा की सिद्धि कर देते हो इसका कोई आश्रय है तो आत्मा शास्त्रीय तो मात्र साधन है सिद्ध तो आता आश्रय शास्त्रीय तो कहेंगे तो उसका कोई आश्रय है तो हम मानते हैं उसका आश्रय है सिद्ध साधनत्वात् तो सिद्धम सिद्ध से साधनम जो हमको निश्चय इसको अनुमान कर सिद्ध करके हमको बताते हो हम मानते हैं उसका आश्रय है क्या आश्रय है मनसेव कामादि गुणवत्त श्रवणाद आत्मा से तो कल्पने च निर्गुण तो शास्त्र विरुद्धत्वात् मन ही आश्रय काम संकल्प विचिकित्सा ही ध्रियते सर्वम मन एव श्रुति कहती है श्रुति कहती काम संकल्प विचिकित्सा कह करके तो सर्व मन एव श्रुति तो तार्किक लोग न्यायिक लोग भी जानते हैं कहते वो तो मन उसका निमित्त कारण इसे मन कह दिया तो वेदांती कहते हैं निमित्त कारण के साथ कार्य का सामानाधिकरण प्रयोग नहीं होता है घटो मृत ऐसे कहा जा सकता है क्या कोई मना करते नहीं करते घटो मृत घट मिट्टी है या नहीं मिट्टी से बना गया जो घट है वो मिट्टी है घड़ा बनने के बाद भी मिट्टी है हैं कोई मना करते हैं बोलो घट बनने के बाद मिट्टी है वीरेंद्र पकाने के बाद तोड़ देंगे तो मिट्टी है घट सुवर्ण से भूषण बनाएंगे तो क्या भूषण से सोना है हैं भूषण बनाने के बाद सोना है तोड़ देंगे तो सोना है कार्य और उपादान कारण में तादात्म्य समानाधिकरण प्रयोग होता है घटो मृद भूषण सुवर्ण ऐसा प्रयोग होता है किंतु घट कुलाल है घट चक्र है घटो दंड ऐसा कहा जाता है घट जैसे मिट्टी से बना घट ऐसे दंड चक्र कुलाल से भी बनता है ये सब निमित्त कारण तो घट को कोई कुलाल कहते ठीक है दंड कहना ठीक है घटो दंड है या घटो चक्र घट घट चक्र ठीक है क्या और घट मृत ठीक है उपादान कारण के साथ तादात्म्य होता है ए समानाधिकरण निमित्त कारण के साथ नहीं होता है श्रुति कहती ये सब मन ही है इच्छा सुख दुख आदि सब मन ही है तो मन उसका उपादान कारण न कि निमित्त इसलिए मन में ही सुख दुख आदि उत्पन्न होता है अंतकरण का परिणाम है सुख दुख आदि है तो ये यदि आश्रय तो सिद्ध करेंगे तो ठीक है मन ही उसका आश्रय क्योंकि काम आदि गुणवत्त श्रवणात मन में ही काम आदि गुण सब है और जो कहते नहीं ये सब आत्मा में आश्रित बुद्धि सुख दुख आदि तार्किक लोग वैशेषिक न्याय के भी उनके साथ मिल जाते हैं दोनों एक तरफ हो जाते हैं दोनों में थोड़ा-थोड़ा भेद है तो भी बहुत समानता है न्याय में कितने पदार्थ मानते हैं सोलह और वैशेषिक में सात मानते हैं कि तो न्याय के लोग जो सोलह मानते हैं वो अलग प्रकार हिसाब करते हैं वो सात में अंतर्भाव कर लेते हैं प्रमाण न्याय में कितने हैं चार ही वैशेषिक में थोड़ा भेद है दो प्रमाण मानते वैशेषिक बाकी सब पदार्थ को तो साथ में अंतर्भूत करते एक प्रकार कह के मिलकर कहते हैं आत्मा में ही सुख दुख आदि उत्पन्न होता है कहते हैं आत्मा से तो कल्पना च आत्मा में आश्रित तो कल्पना करेंगे साखी चेता केवल निर्गुणश्च आत्मा निर्गुण है निर्गुण तो शास्त्र विरुद्धत्वात् तो अनुमान करेंगे यदि शास्त्र विरुद्ध होता है अनुमान बाधित तो हो जाता है श्रुति प्रमाण से निर्गुण तो शास्त्र विरुद्ध होने के कारण ये से अनुमान से आत्मा से तत्व तो सिद्ध नहीं होगा शास्त्रीय तो मानो कोई बात नहीं उसका कोई आश्रय है हम मानते आश्रय है मन और आत्मा उसका आश्रय ये तो निर्गुणत्व प्रतिपादक शास्त्र श्रुति विरुद्ध होने से आत्मना स बुद्धि आदि अविना भाव ग्रहणाच और बुद्धि से आत्मा की सिद्धि करेंगे धूम से जिस बनी की सिद्धि होती है धूम के साथ वन्नी का अविनाभाव व्याप्ति गृहीता है धूम में वन्नी की व्याप्ति है यत्र त धूमस तत्र वन्नी धूम नीचे से ऊपर निकल रहा है लगातार तो अधिकरण में वन्नी है धूम के साथ वन्नी का व्याप्ति रूप संबंध ज्ञान होने से धूम को देख करके वन्नी का निश्चय होता है यहाँ बुद्धि आदि के साथ आत्मा का संबंध ग्रहण होने के लिए बुद्धि को देखो और आत्मा को देखो और दोनों का संबंध देखो आत्मा को देखेगा कौन देखेगा स्वयं आत्मा अपने को देखेगा तो कर्तृकर्म विरोध तार्किक लोग कहते हैं आत्मा का प्रत्यक्ष हो जाता है अहम कहकर मन के द्वारा प्रत्यक्ष मानते हैं प्रत्यक्ष नहीं होने के कारण आगे कहेंगे ये प्रत्यक्ष नहीं दिखता है कथम अविनाभाव ग्रहण है उनसे बुद्धि आदि न आत्मलिंगम इत्याह आत्मा का लिंग नहीं होगा बुद्धि आदि आत्मा के साथ उसका संबंध नहीं होने से लिंग नहीं त्या लिंगते गम्यते है ना तो लिंगम बुद्धि आदि आत्मा का कोई लिंग नहीं होने से अलिंग है अलिंग परो अव्यक्तात् पुरुष अव्यक्तात् पर है पुरुष परमात्मा कथंतरे अलिंग से दर्शन उपपद्यते तुच्यते यदि अलिंग है कोई लिंग ज्ञापक है ही नहीं बुद्धि आदि तो उसका दर्शन कैसे होगा आत्मा में कोई रूप नहीं कोई संबंध नहीं तो उसका ज्ञान कैसे होगा टीका में कथम दर्शनम उपपद्यते प्रष्टु को अभिप्राय दर्शन आत्मा का कैसे होगा कुछ प्रश्न है प्रश्न करने वाले का अभिप्राय क्या है किम विषयतया दर्शनम वक्तव्यम वो तो वो दर्शन उपाय वाच्य कैसे दर्शन होगा किस प्रकार एक दर्शन होता है विषयत्वेन रूप रस घटपट आदि का ज्ञान होता है विषयत्वेन अयम घट यह मधुर अम्ल आदि विषयत्वेन ज्ञान होता है तो क्या आत्मा का विषयत्वेन ज्ञान होगा यह आत्मा है यह अथवा अविषयतया एव दर्शन अविषयतया दर्शन होगा तो कथम प्रश्न करने का क्या अभिप्राय तो ज्ञान का उपाय बोलना किस प्रकार दर्शन होगा किस उपाय से दर्शन होगा दर्शन का उपाय विषयत्व दर्शन होगा तो किस प्रकार होगा अथवा अविषयत्व होगा तो किसी उपाय से होगा यदि प्रथम कहेंगे विषयत्व दर्शन रूप आदि का जैसे ज्ञान होता है कहते नहीं नहीं होगा श्रुति कहती न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम हृदय मनीषा मनसा विकृप्तो य एतद् विदुरमृतास्ते भवन्ति अस्य रूपम न संदृश्य तिष्ठति परमात्मा का स्वरूप न संदृश्य तिष्ठति दर्शन विषय में नहीं रहता है ज्ञान का विषय नहीं होता है न चक्षुषा पश्यति कश्चन एनम कश्चन कोई भी एनम चक्षुषा न पश्यति चक्षुष नहीं देख सकता कोई भी जितने बड़े बुद्धिमान हो जितने बड़े-बड़े चश्मा भी लगाए दिखेगा चक्षु से न चक्षुषा पश्यति कश्चन कोई भी एनम केवल चक्षु नहीं सब किसी इंद्रिय से ग्रहण नहीं कर सकता है ये उपलक्षण है चक्षुर इंद्रिय से ग्रहण नहीं होता है अर्थात किस इंद्रिय से इसको कोई ग्रहण नहीं कर सकता है तो फिर ज्ञान कैसे होगा हृदय हृदय हृदय में स्थित बुद्धि को हृदय कहा हृदयस्थ बुद्धि मनीषा बुद्धि से बुद्धि से इसको ज्ञान होता है कैसे बुद्धि से ज्ञान होगा मनुष्य अविकृप्त मनुष्य मन से मन से वृत्ति होती है वेदांत श्रवण करने से मन से वृत्ति होती है उसी वृत्ति से प्रकाशित होता है अभिकल्पित तो का था प्रकाशित होता है अभिप्रकाशित या एतद विदुष ते अमृता भवन्ति जो इस तत्व को जानते साक्षात्कार कर लेते हैं तो अमृत अमरण धर्म होते मुक्त हो जाते हैं टीका में दिया प्रथम प्रत्याह प्रथम क्या है विषयत्व ज्ञान नहीं हो सकता न संदर्शे टीका में रूपादिम तद विशेषण च दर्शन विषय योग्य योग्यम भवति तद अभावात रूपादिमत जिसमें रूप हो रस हो स्पर्श हो रूपादिमत रूपादि वाला का प्रत्यक्ष होता है रूप वाला का चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है रूपादिमत स्पर्श वाले का भी स्पर्शन प्रत्यक्ष होता है रूपादि मत तद विशेषणं च रूपादि वाले में विशेषण रूपादि रहेगा दंड वाले पुरुष में विशेषण क्या रहेगा दंड ही रूपादि मत तद विशेषण रूपादि रूपा रूप का चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है रूप वाले घट का चाक्षुष प्रत्यक्ष होगा रूप का रूप वाले का होता है जे ऐसे स्पर्श का स्पर्श वाले का शब्द आदि का प्रत्यक्ष होता है शब्द वाले आकाश का तो प्रतीक्षा नहीं होता श्रवण इंद्रिय से शब्द का प्रत्यक्ष होता है तो दर्शन विषय योग्य भवति तद अभावत आत्मा में रूप रस गंध स्पर्श आदि कोई विशेषण है गुण है ही नहीं इसलिए इंद्र का विषय नहीं होता है द्वितीयम प्रत्याह द्वितीय है अविषयतया नहीं ज्ञान होगा तो भाष्य में दिया न संदृश्य का अर्थ दर्श संदर्शन विषय न तिष्ठति प्रत्यगात्मन से रूपम अस्य का क्या अर्थ है प्रत्यगात्मन रूपम न संदृश्य तिष्ठति दर्शन का विषय नहीं होता है अतो न चक्षुषा सर्व न चक्षुषा न चक्षुषा कश्चन पश्यति दर्शन का विषय नहीं होता है इसलिए चक्षु से कोई नहीं देख सकता है केवल चक्षुषा नहीं चक्षुषा का अर्थ सर्वेंद्रिय न सब इंद्रिय से किस इंद्रिय से नहीं देख सकता है ग्रहण नहीं कर सकता है क्योंकि अन्य इंद्र से तो दर्शन होता ही नहीं ज्ञान होता है चक्षुर ग्रहण से उपलक्षणार्थत्वात् श्रुति में जो चक्षु ध्याय उपलक्षण तद ग्राहकत्व सति तद इतर ग्राहकत्वम उपलक्षणत्वम चक्षु के लेना चक्षु से अतिरिक्त अन्य इंद्र को लेना किसी भी इंद्रिय से ग्रहण नहीं होता है यहाँ चक्षु था पश्यति पश्यति का अर्थ ग्रहण इंद्र से कश्चित पश्यति वा घ्राण इंद्रिय से कोई देखता है पश्यति का तो उपलब्धते न उपलब्धते नहीं उपलब्धि कर सकता है ज्ञान इसलिए सब इंद्रिय से ग्रहण नहीं होता है ज्ञान नहीं होता है कश्चन कश्चिदपि कोई भी एनम प्रकृतम आत्मान एनम किस प्रातिपति से एनम बनेगा है इदम का बनेगा इदम का भी बनता है एतत का भी बनता है है नहीं हाँ क्या बनता है एत एते अनुवादेश होता है द्वितीयार्थस्वेन एत इदम अदसो इदम अदसो एतद एतद इदम इसको कोई चक्षु से नहीं देख सकता है कथंतरी तम पश्येद इति उच्यते फिर कैसे ज्ञान होगा कथंतरी इति उच्यते हृदय हृष्ठया बुद्धिया हृदय का तो हृदय में स्थित बुद्धि के द्वारा मनीषा मनस संकल्प आदि रूप से इष्टे नियंत्रित्व नीति मनीट मनीट में प्रातिपदिक क्या है मनीष तृतीयांत मनीषा मनीट तया मनीटा हृदय मनीषा अविकल्पित्रिया विषय विकल्प शून्यया विषय विकल्प मन से होता है यही सब विषय विकल्प रहित मन से ज्ञान होगा जब तो विषय चिंतन करता है तब तो, तो ज्ञान नहीं होगा विषय विकल्प रहित मन मन शुद्ध होता है तब ब्रह्माकार वृत्ति होती है मनन करता है सम्यक दर्शन होता है उससे अविकल्पित का तो भाष्य में दिया मनुष्य का तो मनन रूपेण सम्यक दर्शन से ही ग्रहण होता है अभिकृत का तो अभिसमर्थित अभिप्रकाशित ज्ञान होता है आत्मा ज्ञातुम शक्यते थी वाक्य से स मन से शुद्ध मन से तदा ब्रह्माकार वृत्ति से अज्ञानी की निवृत्ति होती आत्मा स्वयं प्रकाश तम आत्मान ब्रह्म एतद ये विदुर अमृतास्ते भवन्ति आत्मा ही ब्रह्म है उसको जो साक्षात्कार कर लेते संशय विपरीत ज्ञान होता है तो मुक्त हो जाते हैं टीका में कथंतरी बाह्य करण ग्राम उपरमेपि यदा मनो विषयात संकल्पेत विषयान संकल्पेते तदा मुमुक्षोर बुद्धिस्तस्य नियंत्री भवति बाह्य कर्ण ग्राम कर्ण समुदाय चक्षुरादि इंद्रियों का में तो हो गया बैठ कर ध्यान करते हैं कभी कभी कान में कुछ लगा देते हैं आंख बंद कर देते मुख बंद कर देते कमरा बंद है मानव कहाँ जाएगा जा सकता है <laughs> दर्श सब करने पर मन विषयान संकल्प थे विषय का चिंतन करता है कल्पना करता हम का विषय बहुत अच्छा है वो विषय बहुत अच्छा है संकल्प है संकल्प शब्द का कल्पना भी अर्थ होता है तर्कना भी होता है सम्यक कल्पना समीचीन तो बुद्धि बहुत अच्छा बहुत अच्छा संकल्प प्रभवान कामान काम इच्छा संकल्प से उत्पन्न होते हैं वो संकल्प का अर्थ हमको करूंगा ये संकल्प नहीं है संकल्प का अर्थ शोभना अध्यास समीचीन तो बुद्धि बहुत अच्छा है बहुत अच्छा विषय में बहुत शोभना समीचीन मेरा इष्ट है और बहुत अच्छा बहुत अच्छा ऐसे बुद्धि होते ही फिर इच्छा हो जाए हमको मिल जाए ये संकल्प सम्यक कल्पनम दोष है जब राग बढ़ जाता है तो दोष नहीं दिखता है बहुत आशा बहुत आशा हमको मिल जाए संकल्प से इच्छा होती संकल्प और और संकल्प है नहीं संन्यस्त तो संकल्प योगी भवति कश्चन संकल्प के त्याग बिना कोई कर्मयोग नहीं हो सकता है कर्मयोग होने के लिए फल संकल्प त्याग करना पड़ेगा वहाँ संकल्प का अर्थ फल विषय की इच्छा कर्म फल की इच्छा को प्राप्ति के लिए संकल्प कर्म फल की इच्छा यदि रखे तो कर्म योग नहीं होता है कर्म करे कर्म फल की इच्छा नहीं है तो कर्म योग दो योग है ज्ञान योग कर्म योग गीता में कर्म योग है ज्ञान योग का साधन ज्ञान योग में आरूढ़ होने के लिए कर्म योग चाहिए वही कर्म योग योग कहा जाएगा यदि फल संकल्प फल इच्छा का त्याग करके कर्म करे नित्य निमित्त कर्म करे फल इच्छा के बिना वो संकल्प वहाँ हो गया नहीं है संन्यस्त संकल्प फल विषय का संकल्प के त्याग बिना कोई कर्म युग नहीं हो सकता है इसे फल इच्छा त्याग करके कर्म करता है तो सन्यासी के बराबर हो गया इसे कहा गया यहाँ इस प्रकार कहा विषयान संकल्पयते मन बैठ अंदर है विषय का चिंतन करता है बाह्य इंद्र बंद कर देने पर भी तदा मुमुक्षुर बुद्धि तस्य नियंत्री भवति तेरे मुमुक्षु क्या करेगा बैठता ध्यान करने के लिए मन तो भाग जाता है तो भगवान इसे उसको एक बुद्धि भी देते हैं बुद्धि उसको नियमन करती है मन को यदि बुद्धि सद्बुद्धि है जैसे सारथी इसमें आया सारथी मन लगाम को पकड़ रखा है अश्व को जैसे चाहेगा ऐसे इसे लेगा मार्ग पर चलाएगा बुद्धि सारथी यदि प्रमाद करेगा लगाम छोड़ दिया अश्व लेकर कहाँ लेकर गिरा देंगे रथ रथ भी जाएगा अश्व भी जाएंगे रात सारथी भी जाएगा जो बैठा वो सब खत्म हो जाएंगे बुद्धि उसका नियमन करने वाले सारथी जिस प्रकार तस नियंत्री भगवती बुद्धि से कैसे नियमन करना है बुद्धि से नियमन करने के लिए बता देते कैसे करना है जो अप्रमत्त होकर के न करे उसके लिए ऐसे करना है मन को डांटे हे मन किमर्थम तुम पिशाचवत पधावत से ये मन तुम पिशाच जैसे क्यों दौड़ते हो बुद्धि को और यदि स्वयं पिशाच जैसे हो जाए तो मन के पीछे भागेगा वो तो खुश होगा मन भागता है तो हम भी चलो हाँ, इंद्रियणा ही चरता यान मन अनुविद्यते तदस्य हरति प्रज्ञा बुद्धि को खींच लेता है मन विवेक बुद्धि मन के भागे पीछे इंद्रिय से विषय ग्रहण करता है तो मन उसके पीछे भागता है मन जब भागता है तो प्रज्ञा बुद्धि को भी खींच कर ले लेता है तो वायु में आंभसी गति से होती वायु जैसे नौका को लेकर कहाँ से लेकर कहाँ गिरा देगा इसी प्रकार मन किंतु बुद्धि नियंत्रित है नियंत नियंत्री है वही बुद्धि को मन को कहे किमर्थम पिशाचवत प्रधावसी किसके लिए तुम्हारा प्रयोजन सिद्ध करने के लिए या दूसरे प्रयोजन के लिए मन से पूछो न तावत सय प्रयोजनार्थम तुमको कुछ मिलने वाला नहीं तुम्हारा कोई प्रयोजन ही नहीं तुम तो जड़ हो <clears throat> तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं है जो मन में कोई सुख दुख उसका अनुभव मन ही करता है मन अनुभव करता है सुख दुख सुख दुख का भोक्ता मन होगा क्या तब जड़त्वात प्रयोजन संबंधानुपतेर तुम जड़ हो कोई सुख दुख का संबंध सुख दुख जड़ में होता है क्या प्रयोजन संबंध ही नहीं होता है और विषयाणाम क्षयिष्णुत्वादि दोष दुष्टानाम संबंधेन प्रयोजनानुपपते विषय को बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा करे भागते हो थोड़ा विचार करो विषय में कौन विषय नित्य है चक्षु आदि पांच इंद्रिय के कौन सा विषय नित्य है विषयाणाम च क्षयिष्णुत्वादि दोष दुष्टानाम दोष ने दुष्ट दोष युक्त है एक एक क्षय क्षय होने वाले आदि से सातिशयत्व तो अनित्यत्व दुख मिश्रितत्व ये सब दोष है दोष से युक्त है दुष्टानाम संबंध न प्रयोजन संबंध से तुमको कुछ प्रयोजन मिलने वाला नहीं है मन से तो मन मन को बुद्धि पूछ रही है मुमुक्ष पूछे बुद्धि के द्वारा क्यों दौड़ता है किसके लिए तुम्हारा तो कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं तो आत्मा के लिए ना भी चेतनार्थम चेतन के लिए था नहीं चेतन तो असंग है तुम क्या चेतन को क्या करोगे क्या उपकार करोगे चेतनार्थम धावसिते न तस असंगत्वा तस्य चेतन से आत्मा न आत्मा तो चेतन असंग है परमानंद स्वभावत्वाच परमानंद स्वभाव आत्मा उसको तुम क्या करोगे विषय ग्रहण करके विषय चिंतन करके उसको सुख दे दोगे परमानंद स्वरूप उसके प्रतिबिंब से बाहर सुख दिखता है बाहर सुख है ही नहीं नियंत्रित्व न बुद्धिर मनिट उच्यते बुद्धि को मनिट कहते हैं मन को नियामन करती है बुद्धि मनस ईसा मनीषा सकंद आदि से पर रूपवाच्य बनता है मनस ईसा मनीषा मनिटे मनीट इसे मन इष्ट ईट बनता है ईसा में बनता है ईसा इसका तृतीयांत ईसा तो बुद्धि है मनिट मनस संकल्प आदि रूप से इष्टे नियंत्रित होने ते मनिटी ओम